और इसमें मिलिट्री का चैप्टर है मिलिट्री का चैप्टर है चैप्टर 29 प्रिपेयर अगेंस्ट वॉर और दूसरा है chapter 24 improving military industrial complex of India तो चैप्टर 24 में मैंने एक्सप्लेन किया है कि चीन की सेना और भारत की सेना का मैंने कंपैरिजन दिया है जो कि आप देख सकते हैं सेक्शन 246 में 247 uh, में 247 में कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कितने किए हैं भारत ने दो किए हैं पोखरान वन पोखरान टू और उसमें भी यदि सब एक्सप्लोजन गिन लो तो भारत ने चार किए छह किए हैं चाइना ने कितने किए हैं 45 एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन चाइना ने कितने किए 22 हमने कितने किए जीरो सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कितना किया है चाइना ने 4300 किलोटन 4300 किलोटन हमारा 45 किलोटन यानी चीन ने जो एक्सप्लोजन किया है वो हमारे एक्सप्लोजन से 100 गुना ज्यादा पावरफुल था न्यूट्रॉन बॉम्ब चाइना के पास है भारत के पास न्यूट्रॉन बॉम्ब नहीं है और दूसरा भारत की सेना में सैनिक कितने हैं 14 लाख चीन की सेना में 22 लाख और चीन में करोड़ों युवकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है, फुल मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है। तीन साल, पांच साल का कोर्स होता है, वो उन्होंने कंप्लीट किया। तो इस हिसाब से चाइना में मिलिट्री रेडी यूथ कितना है, वो करोड़ों की संख्या में जाता है। रेगुलर आर्मी बाईस लाख का है। Fighter plane, fighter plane China के पास है नौ हमारे पास है तीन और चाइना है वो फाइटर प्लेन बनाता है यानी उसको एक फूक गया तो वो दस बना सकता है क्योंकि उसके वहीं फैक्ट्रियां हैं जबकि हमें बाहर से खरीदने पड़ते हैं यानी युद्ध के टाइम एक एक प्लेन की कीमत दस गुनी हो जाएगी फिर नेवी के जहाज हमारे पास 145 है चाइना के पास 280 से ज्यादा है और चाइना के नेवी के जहाज ज्यादा बड़े हैं न्यूक्लियर वॉरहेड हमारे पास पचास है चाइना के पास सौ है हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड जो डिप्लॉय हो उसकी रेंज कितनी है मैक्सिमम 2000 चाइना की रेंज है 12000 न्यूक्लियर वॉरहेड कैरिंग सबमरीन हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है वो उसमें न्यूक्लियर इंजन है उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड यानी न्यूक्लियर मिसाइल रखने की कैपेसिटी नहीं है चाइना के पास जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो चार है क्रूज मिसाइल है वो चाइना मैन्युफैक्चर करता है हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हम इंपोर्ट कर रहे हैं लेसर गाइडेड बॉम्ब चाइना 1990 से मैन्युफैक्चर कर रहा है लेसर गाइडेड बॉम्ब मिसाइल हमारे पास कारगिल का वॉर हुआ 1998 में तब हमारे पास लेसर गाइडेड बॉम्ब और लेसर गाइडेड मिसाइल थे ही नहीं यदि होते तो हमारा एक भी सैनिक नहीं मरता इतना ही नहीं लेसर गाइडेड बॉम्ब उसके बाद हमने फ्रांस से खरीदे लेकिन उसको चलाने के लिए हमें फ्रांस गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है जैसे कि कारगिल युद्ध 90 परसेंट खत्म हुआ 90 परसेंट खत्म हुआ यानी कि एक जो पर्वत है वो आज भी पाकिस्तान के अंडर में है point five five three three बोलते हैं उसको point five five three three क्यों बोलते हैं क्योंकि वहाँ इतने सारे पर्वत है कि नाम नहीं दिए जाते उसके जो जो उसका शिखर होता है उसकी जो ऊंचाई होती है वही उसका नाम बन जाता है तो एक पर्वत है फाइव फाइव थ्री थ्री यानी कि समुद्र तल से five thousand three hundred fifty three metre ऊंचा तो उसको point five five three three बोलते हैं वो भारत का हिस्सा था और वो कारगिल के टाइम पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया और बाद में पाकिस्तान ने उससे सैनिक नहीं हटाए तो वहां पर सैनिकों को भारत के सैनिकों का जाना नामुमकिन है क्योंकि वो बहुत हाइट पे है और नीचे सारा मैदानी इलाके मतलब सैनिक जाएंगे तो ऊपर जो पाकिस्तान के सैनिक बैठे हैं वो उनको गोलीबारी से आसानी से मार देंगे तो न्यूक्लियर या न्यूक्लियर नहीं सॉरी लेसर गाइडेड बम फेंक के जो पाकिस्तान के सैनिक थ्री पे बैठे थे उनको खत्म किया जा सकता है लेकिन फ्रांस की सरकार ने लेसर गाइडेड बम फेंकने की परमिशन नहीं दी और वहां पे लेसर गाइडेड बम नहीं फेंक पाए कारगिल के टाइम हमने जो फ्रांस से लेसर गाइडेड बम खरीदे उसका सैटेलाइट कंट्रोल फ्रांस गवर्नमेंट के पास था हमारे पास नहीं था यानी लेसर गाइडेड बम है वो भारत का एयरप्लेन फेंकेगा क्योंकि भारत को प्रजा को दिखाना नहीं है कि हमने हम फ्रांस की एयरफोर्स हमें मदद कर रहा है तो लेसर गाइडेड बम है वो फ्रांस ने दिया उस पर लिपापोपति करके भारत के मिलिट्री का भारत के एयरफोर्स का साइन बना दिया भारत के एयरफोर्स के प्लेन पे डाला प्लेन ने उसको फेंका लेकिन फ्रांस का सैटेलाइट उसको गाइड कर रहा था कि तुम्हें यहां पे गिरना है या नहीं गिरना है यानी फ्रांस का सैटेलाइट यदि हमारी मदद न करे तो हम वो लेसर गाइडेड बम है वो यूज नहीं कर सकते और उसकी वजह से चीन को तो छोड़ दो मैं तो कहता हूं ये जो मेरा दूसरा वीडियो इसी पे है कि पाकिस्तान ने भी जो 0.5353 पे कंट्रोल किया उसको हम आज़ाद नहीं करा पाए अब चीन की सेना हमारी सेना से मिनिमम चार या पांच गुना ज्यादा शक्तिशाली है उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि चीन में इंजीनियरिंग ज्यादा स्ट्रांग है अब चीन में इंजीनियरिंग क्यों स्ट्रांग है वो इंजीनियरिंग स्ट्रांग है वो तो आप बहुत सारी चीजों में देख सकते हो कि जैसे mobile phone made in China kilo के भाव बिक रहे हैं लिटरली चाइना के अंदर वो किलो के भाव भी बिकते हैं और भारत में एक भी मोबाइल फोन नहीं बन रहा नोकिया और दो चार कंपनियों ने जो मद्रास में यूनिट लगाया वो असेंबली यूनिट है ट्रू मैन्युफैक्चरिंग नहीं है फिर आपके घर में ही देख लो ना जो भी आइटम है पंखा है उसके हो सकता है बजाज का नाम लिखा हो लेकिन उसकी जो अंदर की मोटर है बजाज पंखों की वो मेड इन चाइना है फिर कैलकुलेटर भी सब मेड इन जापान होते हैं या मेड इन चाइना होते हैं टीवी माइक्रोवेव वॉशिंग मशीन सब कुछ मेड इन कोरिया है मेड इन चाइना है मेड इन जापान है मेड इन इंडिया शायद ही कुछ हो कुछ भी नहीं है तो इंजीनियरिंग कमजोर है उसकी वजह क्या है तो उसका सबसे बड़ा कारण है अदालतों में हमारे अदालतों में न्यायाधीशों का भ्रष्टाचार नेपोटिज्म भाईपतिजावाद और उनकी वकीलों से जो साठगांठ है वो उनकी वकीलों के साथ साथ सांठगांठ है ये सबसे बड़ा कारण है और सांठगांठ है वो अपने परिवार के वकीलों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो नेपोटिज्म फिर जब अपॉइंटमेंट होती है जज की तो भी भाई भतीजावाद मेन फैक्टर होता है क्यों मेन फैक्टर होता है कैसे मेन फैक्टर बन जाता है कि इंटरव्यू कौन लेता है मजिस्ट्रेट की रिक्रूटमेंट में हाईकोर्ट के जज होते हैं हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं तो वो अपने भाई भतीजों को ही अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं जैसे यदि मैं हाईकोर्ट का जज हूँ और मुझे सौ मजिस्ट्रेट को रिक्रूट करना है तो मैं अपने रिश्तेदार को तो नहीं बुला रख सकता इसलिए मैं क्या करूंगा मैं बगल वाला जो हाईकोर्ट में मेरे पांच दस दोस्त है मैं उनको बोलूंगा कि लाओ भाई तुम्हारे रिश्तेदार को नाम दो मैंने सबको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए अब उसके एक साल बाद क्या होगा मैं अपॉइंटमेंट कमेटी में नहीं हूँ मेरा जो दोस्त है हाई कोर्ट का दूसरा जज वो अपॉइंटमेंट कमेटी में तो वो मेरे दस में रिश्तेदारों को मैजिस्ट्रेट बना देगा तो सारा रिक्रूटमेंट है वो भाई भतीजावाद के प्रिंसिपल पे होता है सिद्धांत पे होता है इसको जुडिशरी में प्रिंसिपल ऑफ नेपोटिज्म बोलते हैं कि भाई ये मेरा भतीजा है तो भाई मैजिस्ट्रेट मेरा भतीजा नहीं बनेगा तो मैं क्या तेरे भतीजे को मजिस्ट्रेट बनाऊंगा हाईकोर्ट के जज मुंह पे बोलते हैं कि भाई मेरा भतीजा को मैजिस्ट्रेट नहीं बनाऊंगा तो क्या मैं तेरे भतीजे को मैजिस्ट्रेट बनाऊंगा अब इसकी वजह से इंजीनियरिंग कैसे पिछड़ा होता है तो पूरी दुनिया में जितनी भी इकोनॉमी देख लो अमेरिका की स्वीडन की उसमें एक तो लेबर होता है जो कि खुद काम कर रहा है वो सैलरी लेता है सुबह 10 बजे आ गया शाम को 5 बजे तक काम करेगा उसके सुपरविजन के अंडर फिर सेकंड कैटेगरी होती है लेबर के सुपरवाइजर की जिसपे ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी होती है तीसरी कैटेगरी होती है ओनर की अब ओनर के अंडर में हो सकता है 40 लेबर हो हो सकता है 5 लेबर हो हो सकता है 50 लेबर हो हो सकता है 500 लेबर और 50,000 लेबर भी हो सकता है रिलायंस जैसी कंपनी होगी तो उसके अंदर 5 लाख लेबर होंगे तो इस तरह से आप अलग-अलग कंपनियों को क्लासिफाई करो कि 5 labour 50 labour 500 labour 5000 labour 50000 labour तो लेबर है तो मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे लेबर आलसी होते ऐसा नहीं होता कुछ लेबर मेहनत से काम करते हैं उनको पता है कि भाई काम ना करे उनको इतना ही पैसा मिलने वाला है जो इतना सैलरी में है तो भी कुछ लोग दिल लगा के दिमाग लगा के जान लगा के काम करते हैं कुछ लोग नहीं करते वो परसेंटेज पूरी दुनिया में कांस्टेंट है आप भारत में जाओ तो भारत में भी आपको मान लो पांच परसेंट लेबर है जो कि दिल जान दिमाग लगा के काम करते हैं तो अमेरिका में भी आपको पांच परसेंट लेबर ही मिलेंगे जो कि दिल जान दिमाग लगा के करते हैं बाकी पचानवे परसेंट वही देखेंगे कि घड़ी की ओर देखेंगे कि कब पांच बजे और मैं निकलू मतलब वो बेईमान नहीं है वो जितना काम दिया ईमानदारी से करते हैं पर यह नहीं कि उनको कुछ दिखा कि भाई डबल काम हो सकता है तो वो डबल काम करे अब सुपरवाइजर में भी ये टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन उतनी नहीं सबसे ज्यादा टेंडेंसी किस में होती है ओनर में ओनर में क्यों क्योंकि उसका पैसा दांव पे लगा है उसने दो पांच करोड़ उसका या जो दांव पे लगाया है यदि उसमें से जितना प्रोडक्टिवली काम होता है वो उतना उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और अनप्रोडक्टिवली काम होता है प्रोडक्ट यदि ठीक से नहीं बन रहा प्रोडक्ट में लूज एंड है कि प्रोडक्ट मार्केट में जाके खराब हो गया तो उसका करोड़ रुपया डूबेगा उसकी ब्रांड नेम खत्म होगी उसको नुकसान जाएगा तो इस तरह से जो ओनर है वो हमेशा मोस्ट प्रोडक्टिव और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव तरीके ढूंढता है पर जिस ओनर के अंडर में 500 लेबर है वो चाहे तो भी क्यों इंप्रूव नहीं कर सकता क्योंकि अब लेबर पे उसका डायरेक्ट सुपरविजन नहीं बचा उसको दो तीन लेवल के सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे अब सुपरवाइजर खुद तो ओनर है नहीं तो इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी उनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी कंपेयर टू ओनर और ओनर है वो लेबरर को पर्सनली सुपरवाइज नहीं कर सकता लेकिन जो 5 से 50 आदमी की फैक्ट्री होती है एक से 50 आदमी की फैक्ट्री उसमें ओनर के पास ये ऑप्शन है कि वो लेबर को खुद सुपरवाइज कर सके तो वो लेबर को ही कॉन्स्टेंटली लेबर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के चक्कर में रहता है और तो इसलिए दुनिया की कोई भी इकोनॉमी देख लो तो उसमें ये जो 50 से नीचे फिर 50 हार्ड एंड फास्ट नहीं है कहीं 60 भी हो सकता है 70 भी हो सकता है depending on the administrate depending on the industry कभी 20 भी हो कभी 100 भी हो पर ये जो स्मॉल एम्प्लॉयर जो होता है वो इकोनॉमी का मोस्ट क्रिएटिव मोस्ट प्रोडक्टिव और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि वो सबसे ज्यादा इनोवेटिव होता है नई नई खोज करने के लिए खोज यानी मामूली सी खोज कि भाई इस तरह से काम नहीं करते थोड़ा इस तरह से करते हैं तो वो खोज ऐसी कोई बड़ी नहीं है कि इसमें जर्नल में पेपर छप जाएगा या कोई आ, उसको मेडल मिल जाएगा पर उस उसने जो थो, छोटा सा चेंज लाया उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो एक परसेंट कम होगी अब इंडस्ट्री में वो सब कॉपी करेंगे सबकी कॉस्ट एक परसेंट कम हो गई फिर वो क्रिएटिव भी होता है वो नए नए तरीके खोजता है ताकि उसको ज्यादा मुनाफा हो उसकी कॉस्ट कम हो जो 500 लेबर का एम्प्लॉय है वो भी क्रिएटिव होता है पर अब लेबर से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है इसलिए उसकी क्रिएटिविटी हैंड्स ऑन या डाउन टू अर्थ नहीं होती तो ये जो 50 एम्प्लॉय वाला फैक्ट्री चलाने वाला है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसका बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं है MP MLA chief minister prime minister, minister, high court जज उसका उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है उसको यदि कोई राइट या रॉन्ग प्रॉब्लम आती है उसकी भी गलती हो सकती है या तो हो सकता है वो बिल्कुल निर्दोष हो कोई और उसको फिजूल में परेशान कर रहा है तो उसके पास अदालत में जाना पड़ता है अब अदालत में जजमेंट जितना फास्ट आए जितना नेपोटिज्म कम हो भाई भतीजावाद कम हो साठ काट का फैक्टर कम हो उतने ये इंजीनियर या ओनर स्मॉल ओनर ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पाएंगे मतलब अमेरिका की अदालत अमेरिका में मान लो इस तरह से हजार लोग हैं जिनकी पचास लोगों की फैक्ट्री है चाइना में हजार लोग हैं जिनकी पचास लोगों की फैक्ट्री है और भारत में ऐसे हजार लोग ले लो जिनकी पचास लोगों की फैक्ट्री है तो भारत में जो है उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे कम है उनकी एफिशियंसी सबसे कम है क्योंकि उनको सरकारी अधिकारी परेशान करेंगे परेशान करेंगे वो कोर्ट में जाएंगे कोर्ट में जज भी उनसे पैसा मांगेगा जबकि चाइना में रिलेटिवली कम है चाइना में भी जुडिशरी में काफी करप्शन है कंपेयर टू अमेरिका और अमेरिका में सबसे कम है इसलिए अमेरिका में जो 50 एम्प्लॉय वाला ओनर है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है सबसे ज्यादा इफेक्टिव वो फास्ट काम कर रहा है सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिवली काम कर रहा है जबकि चाइना में वो मिडल में है और इंडिया में वो सबसे पीछे है अब ऐसा तो क्या है कि चाइना में भाई भतीजावाद अदालत में कम है सांठ काट कम है उसके दो रीजन है एक तो वहां पे तीन रीजन एक तो न्यायाधीशों की संख्या ज्यादा है भारत में कुछ 16-17 हजार न्यायाधीश है जिनमें से 2000 सीट खाली है अभी यानी वर्किंग जज कितने हैं चौदह हजार चाइना में जज कितने हैं दो लाख और जितनी सेंशन स्ट्रेंथ है करीब करीब 95-98 परसेंट से ज्यादा ऑक्यूपाइड है वो कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि जगह यदि खाली क्यों होती है क्योंकि नई पोस्ट खड़ी होती है या तो रिटायर होते हैं तो जो आदमी रिटायर होने वाला होता है पांच साल पहले पता है तुमको कि ये रिटायर दो साल पहले पता है रिटायर होने वाला है तो दो साल पहले ही रिक्रूटमेंट प्रोसीजर शुरू कर दो तो इस तरह से रिक्रूटमेंट यदि ठीक से हो रहा हो तो वैकेंट पोजीशन होनी नहीं चाहिए पर यहाँ पे भाई भतीजावाद इतना है कि नहीं मेरे भतीजों को घुसाओ नहीं मेरे भतीजों को घुसाओ इसमें फिर चीफ जज कंटाल जाता है परेशान हो जाता है वो किसके भतीजों को घुसाए और किसके भतीजों इसलिए फिर वो बोल देता है कल आना परसों आना ये लोअर कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में इतनी टांग खींचाई होती है हाईकोर्ट के जजों के अंदर कि जो चीफ जज होता है वो डिसीजन पोस्टपोन कर देता है आप इंडिया की कोर्ट में देखना चीफ जज हमेशा बाहर का आदमी होता है भाई ऐसा क्यों गुजरात के जो चीफ जज है वो अभी बंगाल का है गुजरात में से एक हाईकोर्ट के जज को प्रमोशन मिला चीफ जज के लिए तो उसको कर्नाटक भेजा चीफ जज 1970 के बाद हमेशा बाहर के आदमी को बनाया जाता है भाई गुजरात में कोई लायक आदमी नहीं है जो गुजरात का चीफ जज बन सके कर्नाटक में कोई लायक आदमी नहीं है जो कर्नाटक का चीफ जज बन सके पर वो क्यों नहीं बनाते क्योंकि हाईकोर्ट के जजों में इतनी टांग खिंचाई हो रही होती है और वो डिसीजन एंड में चीफ जज को लेना होता है तो वो देखते हैं कि भाई यदि चीफ जज के अपने रिश्तेदार इस स्टेट में मैजिस्ट्रेसी में है लोअर कोर्ट में है तो अपने रिश्तेदारों को इतने सारे प्रमोशन देगा कि बाकी हाईकोर्ट के जज वो नाराज हो जाएंगे दंगा मचा देंगे इसलिए गुजरात के कितना भी काबिल हाईकोर्ट का जज हो उसको गुजरात का चीफ जज नहीं बनाया जाता क्योंकि भय है कि यदि उसको गुजरात का चीफ जज बनाया तो वो अपने सारे रिश्तेदारों को जो मजिस्ट्रेसी में है उनको प्रमोट कर करके सेशंस कोर्ट में ले आएगा सेशंस कोर्ट में उसके जितने रिश्तेदार हैं सबको वो हाई कोर्ट में ले आएगा इसलिए वो बाहर के आदमी लेकर लाते हैं ताकि कम से कम वो अपने रिश्तेदारों को फेवर न कर सके अब जबकि चाइना में जो रिक्रूटमेंट है उसमें भाई भतीजावाद नहीं चलता क्यों नहीं चलता या कम चलता है बहुत कम चलता है क्यों नहीं चलता क्योंकि वहां रिक्रूटमेंट रिटर्न एग्जाम से होता है देखो ये बहुत बड़ा फर्क है चाइना आज भारत से आगे है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है मैं फिर से बोलता हूं सबसे बड़ा रीजन है कि चाइना में जुडिशरी का रिक्रूटमेंट रिटर्न एग्जाम से होता है और हमारे यहाँ रिटर्न एग्जाम सिर्फ एक दिखावा है असल में जुडिशरी का रिक्रूटमेंट इंटरव्यू से होता है इंटरव्यू का मतलब है भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद और कुछ नहीं interview is equal to corruption plus nepotism बहुत कम जगह पे जहां टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं वहां पे थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी होती है बाकी जुडिशरी आईएएस, आईपीएस, एडमिनिस्ट्रेशन ये जो तहसीलदार की अपॉइंटमेंट होती है पटवारी की अपॉइंटमेंट होती है कस्टम्स में हर जगह हर जगह जहां इंटरव्यू होते हैं वहां पे रिश्वतखोरी और भाई भतीजावाद के सिवा कुछ नहीं होता और चीन में भी यही प्रॉब्लम था इसीलिए चीन में 2000 साल पहले कन्फ्यूशस आया उसने इंटरव्यू बंद करा दिए मतलब बहुत कम करा दिए इंटरव्यू के वेटेज बहुत कम हो गई और 2000 साल पहले कन्फ्यूशस ने ये सिस्टम डाली कि रिक्रूटमेंट सारा रिटर्न एग्जाम से होगा और उसी की वजह से चाइना कभी किसी विदेश का पूरी तरह गुलाम नहीं हुआ तो रिटर्न एग्जाम से होता है उससे क्या होता है एक तो एकदम अंगूठा छाप लोग है वो नहीं आ पाते कुछ तो मेरिट होना चाहिए ना अभी तो अदालतों में क्या हो रहा है कि हाईकोर्ट के जज के रिश्तेदार होते हैं जिनको बेल एप्लीकेशन लिखना नहीं आता वो मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं वो सेशन कोर्ट के जज बन जाते हैं एकदम अंगूठा छाप ही समझ लो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज जबकि रिटर्न एग्जाम से जो आदमी होता है तो minimum level of merit is guaranteed फिर जो थोड़ा बहुत इंटरव्यू होता है चाइना में वो रैंडमाइज पैनल से होता है रैंडमाइज पैनल यानी कि 2000 लोगों का इंटरव्यू रिक्रूटमेंट होना है तो उन्होंने बुलाया 2500 3000 लोगों को रिटर्न एग्जाम से फिल्टर करने के बाद यानी रिटर्न एग्जाम में यदि वो टॉप 3000 में नहीं है तो वो तो इंटरव्यू में भी नहीं आएगा तो और 2000 कैंडिडेट को लेना है तो ऐसा नहीं कि 10000 को बुलाएंगे वो 3000 को ही बुलाते हैं रिटर्न एग्जाम में से तो 3000 को बुलाया उसके बाद इंटरव्यू लेने के लिए 100 लोग गए तो उनकी पांच पांच लोगों की टीम बनती है और वो टीम लास्ट मोमेंट पे बनती है रैंडम सिलेक्शन से और कैंडिडेट को बोला जाता है तू इस पैनल के पास जा तू इस पैनल के पास जा और वो जो पैनल एलोकेट होती है वो भी रैंडमली होती है लास्ट मोमेंट पे और इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू जैसे ही खत्म होता है तुरंत उसको मार्क देने होते हैं और उसका मार्क है वो आदमी बाहर ले जाता है और बाद में कोई नेगोशिएशन करने का स्कोप नहीं रहता तो इंटरव्यू देने वाले को पता नहीं है कि कौन इसका इंटरव्यू लेना क्योंकि वो सौ में से कोई भी पांच लोगों की टीम हो सकती है यहां पे तो क्या है कि जो हाईकोर्ट का जज इंटरव्यू लेने जाते हैं उसको पता है कि ये सौ लोगों का मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं और वो सौ लोग उनको भी पता है कि वो साहब है वो हाईकोर्ट के जज है या रिटायर्ड जज है वो मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं तो एक महीने पहले से ही फिक्सिंग शुरू हो जाता है जबकि वहां पे लास्ट मोमेंट पे ये सारे रैंडमाइज डिसीजन होते हैं रैंडमाइज पैनल से तो फिक्सिंग करना मुमकिन नहीं है तो उसकी वजह से चाइना में जो जुडिशरी में रिक्रूटमेंट होता है वो रीजनेबली मेरिट बेस्ड होता है वो भाई भतीजावाद से या पैसे से रिक्रूटमेंट नहीं होता अब सेकंड स्टेज में आता है प्रमोशन हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि मैजिस्ट्रेट का एग्जाम होता है रिटर्न एग्जाम लेकिन बाद में इंटरव्यू यानी इंटरव्यू ही समझ लो रिटर्न एग्जाम की कोई वैल्यू ही नहीं है बस थोड़ा बहुत उसको टेक्निकल नॉलेज होगा इतना श्योर हो जाता है फिर यहां पे रिक्रूटमेंट किसका होता है जिसने पहले वकील हो तीन दो तीन साल वकालत की हो एलएलबी की हो चाइना में ऐसा नहीं है चाइना में कोई भी मेरिट वाला आदमी जुडिशरी में जज की तरह जा सकता है यदि उसको लॉ की ट्रेनिंग नहीं है तो उसको अलग से तीन साल लॉ की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है मेरा जो एक सजेशन है वो ही है कि भाई एस की रिक्रूटमेंट होती है तो क्या पूछा जाता है कि पहले तुमने पांच साल किसी कचहरी में ब्रोकर दल्ले का काम किया है आप किसी भी तहसीलदार की या कलेक्टर की कचहरी में जाओगे तो आसपास आर तुमको वकील और दल्ले घूमते नजर आएंगे जो दल्लेगिरी का काम करते या वकालत का काम करते ये कंडीशन नहीं है कि आपने कलेक्टर की कचहरी में वकील या दल्ले का काम किया हो तो ही आप कलेक्टर बन पाओगे यदि आप में मेरिट है तो आप कलेक्टर की एग्जाम में बैठो यूपीएससी एग्जाम में पास हो गए तो आपको कलेक्टर बनने मिलेगा यही क्राइटेरिया जुडिशियरी में होना चाहिए कि यदि आदमी में मेरिट है वो रिटर्न एग्जाम में पास हो गया तो जज बन सकता है अब उसको एलएलबी नहीं किया उसने तो कराओ उसको तीन साल एलएलबी रिक्रूटमेंट के बाद तब तक उसको सैलरी नहीं मिलेगी या महीने के एक दो तीन हजार की सिर्फ स्टाइपेंड मिलेगी और मीनवाइल वो असिस्टेंट का काम करेगा आ, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में मतलब उसकी ट्रेनिंग और असिस्टेंट एज अप्रेंटिस अप्रेंटिस की नौकरी साथ साथ चलेगी लेकिन जुडिशियल जज लोग क्या चाहते हैं कि उनके रिश्तेदार जज बने इसलिए उन्होंने ये कंडीशन डाल दी है कि मिनिमम एलएलबी होना चाहिए और उसने एक दो तीन साल वकालत की होनी चाहिए तो ही वो मजिस्ट्रेट बन सकता है ताकि उनके रिश्तेदारों में आने की संभावना बढ़ जाए जो लोग उनके रिश्तेदार नहीं है वो फिल्टर आउट हो जाए अब चाइना में ऐसा नहीं है फिर चाइना में मैंने बताया रिक्रूटमेंट रिटर्न एग्जाम से होता है फिर यहां पे प्रमोशन कैसे होता है मैजिस्ट्रेट के बाद आता है सेशंस जज सेशंस जज के बाद हाईकोर्ट हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तो मान लो सेशंस को गुजरात में रफ नंबर में दे रहा हूं 700 मजिस्ट्रेट है सेशंस कोर्ट के जज में कुछ 200 जज है और हाई कोर्ट में 35 जज है तो सेशंस कोर्ट में मान लो 200 में से 20 लोग रिटायर होने वाले हैं 20 जगह खाली होने वाली है तो 10 लोग वो लोग मैजिस्ट्रेट में से प्रमोशन से लेंगे और दस किसी भी एक्सटर्नल आदमी को जो कि वकील है हाईकोर्ट का या जान पहचान का है उसको जज की तरह अपॉइंट कर देंगे और इसी तरह से हाईकोर्ट में होता है हाईकोर्ट में मान लो पांच जगह खाली हुई छह जगह खाली हुई तो तीन वो लोग सेशन कोर्ट से प्रमोशन लेंगे और तीन डायरेक्ट रिक्रूटी है डायरेक्ट रिक्रूटी कौन है जान पहचान से कोई भी आदमी आ जाता है बस वो कहा क्या जाता है कि वो बहुत होनार वकील था पर होनार वकील का क्या मतलब है होनार वकील का मतलब ये थोड़ा है कि वो बुद्धिमान है उसकी प्रैक्टिस अच्छी चलती है भाई प्रैक्टिस तो अच्छी चलती होगी क्योंकि वो किसी बड़ी बड़ा कॉरपोरेट है उसके लिए वो काम कर रहा है आ, कोई भी काम कर सकता है अच्छा बुरा किसको पता है और तो जो एक्सटर्नल रिक्रूटी है वो अधिकतर भाई भतीजावाद से होते हैं और कोई गारंटी नहीं है कि उनमें मेरिट है कोई गारंटी नहीं है कि उनमें इंटीग्रिटी है उनका एक्सपीरियंस भी गारंटी नहीं है बहुत सारे हाईकोर्ट के जज ऐसे हैं जिन्होंने कभी लोअर कोर्ट में पाँव नहीं रखा वो सीधा हाईकोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की और वो हाईकोर्ट के जज बन गए और उनको जिम्मेदारी दी जाती है लोअर कोर्ट इंप्रूव करने की तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता तो इस तरह से लोअर कोर्ट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो हाई कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट के जजों को लोअर कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने में इंटरेस्ट नहीं है इंडिया में चाइना में वो प्रॉब्लम नहीं है चाइना में क्या होता है कि रिटर्न एग्जाम से मैजिस्ट्रेट बनता है और उसके पास सारी पॉइंट है वो प्रमोशन से है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट नहीं है ट्रांसफर होती है ट्रांसफर यानी कि एक डिपार्टमेंट का गवर्नर जैसे कि कस्टम का अधिकारी है क्लास वन ऑफिसर है उसको इनकम टैक्स में रखा तो वो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हुई वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ क्योंकि वो कस्टम में 10 साल पहले काम कर चुका था इस तरह से चाइना में इंटरनल इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का सिस्टम है कि किसी ने कस्टम में 10 साल काम किया हो और वो जुडिशरी में परमानेंट या टेम्पररी अपॉइंटमेंट की तरह आता है पर वो कैडर का ही आदमी है वो बाहर का ऐसा नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ मेरे दो बेटे हाई कोर्ट में वकील है या मेरा भतीजा हाई कोर्ट में वकील है सुप्रीम कोर्ट में वकील है मैंने उसको कहीं हाई कोर्ट का जज बना दिया उस तरह का सिस्टम चाइना में पॉसिबल नहीं है तो उसकी वजह से जो कंप्लीट जुडिशरी है वो एक कैडर की तरह काम करती है और उसकी वजह से वहां पे जो साठ गांठ का फैक्टर है वो रिलेटिवली कम है देखो अमेरिका के मुकाबले में बहुत ज्यादा है और इसीलिए चाइना आज भी अमेरिका से बहुत पीछे है चाइना हर एक चीज में अमेरिका से बहुत पीछे है वो सस्ते मोबाइल बनाता है पर नए मोबाइल नहीं बनाता जैसे आईपॉड है आईपैड है तो सबसे पहले वो अमेरिका में बनता है तीन साल बाद कहीं जाके चीन उसकी नकल कर पाता है उसका मैन्युफैक्चरिंग भले चाइना में होता हो पर उसका डिजाइन उसका पूरा सॉफ्टवेयर उसका पीसीबी डिजाइन वो सब अमेरिका में होता है वो चाइना में नहीं होता चाइना सिर्फ लो एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है आज भी लेकिन वो भारत से आगे इसलिए निकल गया क्योंकि वहां की अदालतों में भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म वगैरह भारत की अदालतों के मुकाबले चीन की अदालतों में चीन की अदालतों में कम है। अब सवाल आता है कि हम अपनी सेना कैसे मजबूत करें क्योंकि अभी तो चीन ने लद्दाख में हमको एक चपत दी देखो एक तरह से कहो तो हमें ये जागने का मौका मिला है यदि ये मौका भी खो दे 1962 में हमें जागने का मौका मिला जो कि हमने आधा यूज किया आधा गंवा दिया मतलब लाल बहादुर शास्त्री ने सेना मजबूत की देवी इंदिरा अम्मा ने सेना को और मजबूत किया परमाणु बम का विकास किया पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए भारत की सेना इतनी मजबूत हो गई कि पाकिस्तान के दो टुकड़े करने में हम समर्थ हो गए लेकिन उसके बाद राजीव गांधी के आने के बाद वो काम रुक गया नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह वो तो विदेशों के एजेंट थे नरसिंह राव को भारत की राजनीति का शकुनी कहना चाहिए चाणक्य नहीं कहना चाहिए शकुनी कहना चाहिए चाणक्य तो वो जो कि अपनी देश की सेना को मजबूत करे जो अपनी देश की सेना के पांव तोड़े वो शकुनी हुआ तो इस तरह से नरसिंह राव और मनमोहन सिंह दोनों भारत की राजनीति के शकुनी कह सकते हैं गुरु शकुनी और ये चेला शकुनी जो कि मनमोहन सिंह जो कि अब खुद एक गुरु शकुनी बन गया तो ये तो थे ही अमरीका के एजेंट तो इन्होंने भारत की सेना को धीरे-धीरे कमजोर करना शुरू किया और कैसे कमजोर किया कि उन्होंने हथियारों का उत्पादन खत्म करवा दिया पूरे देश में से कम करवा दिया और जनरल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में उन्होंने खत्म करवा दिया कैसे खत्म करवा दिया कि जितने कानून थे गलत कानून फैक्ट्री एक्ट है लेबर एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो उसने ऐसे कैसे चालू रखे उसमें कोई सुधार नहीं किया चाइना में कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है मान लो प्रोविडेंट फंड का झगड़ा है प्रोविडेंट फंड तो वहां पे है ही नहीं वहां पे सिस्टम ही पूरा अलग है पर लेबर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा होता है हर एज्यूम करके नहीं चलते कि लेबर गलत है और वो करना भी नहीं चाहिए पर इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं तो हफ्ते दो हफ्ते में रिजॉल्व हो जाते हैं दो हफ्ते में चाइना के कोर्ट का जजमेंट आ जाता है कि ये करना है या ये करना है या ये करना है यहाँ पे कोई लेबर डिस्प्यूट होता है तो पांच पांच साल तक जजमेंट नहीं आता पांच पांच साल तक दोनों पे लटकती तलवार रहती है और इसमें बड़ी कंपनियां क्या करती है कि वो बड़े हाईकोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज से नेक्सेस बना के लोअर कोर्ट के जज उनके अंडर में आते हैं वो लोअर कोर्ट के में ऐसे जजमेंट निकलवाते हैं कि उससे पूरे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट है मिडिल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी कमर टूट जाती है और वो चाइना में रिलेटिवली मुश्किल क्यों है क्योंकि चाइना में जो लोअर कोर्ट के जज है वो हाई कोर्ट के जज के रिश्तेदार नहीं होते वो रिटर्न एग्जाम से आए हैं उनकी रैंडमाइज ट्रांसफर होती है हाई कोर्ट के जज में के पास उसके पास बहुत डिस्क्रिशनरी पावर लिमिटेड है यदि जज को निकालना है मजिस्ट्रेट को तो वो मिनिस्टर डिसाइड करते हैं चाइना के हाई कोर्ट के जज डिसाइड नहीं करते इसलिए वहां का जो लोअर कोर्ट का जज है वो हाई कोर्ट के जज के से रिलेटिवली इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो चाइना में नेक्सस और वो सब भी चलता है पर इतना डेंस नेक्सस नहीं है जितना इंडिया में है ये एक रीजन है मैं दूसरे वीडियो में और एक्सप्लेन करूंगा कि चाइना क्यों आगे है वहां पे जमीन की मालिका से रिलेटेड जो कानून है उसकी वजह से पर अब सवाल आता है कि हम इस चुगल में से कैसे निकले तो हमें अपनी इंजीनियरिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी कैसे हम इंजीनियरिंग इंप्रूव कर सकते हैं वो मैंने अपने चैप्टर 22 में दिया है आ, आ, चैप्टर 25 सॉरी मैं बताता हूँ आपको चैप्टर नंबर कि भारत में कौन-कौन कानून लाकर हम इंजीनियरिंग इंप्रूव कर सकते हैं चैप्टर 24 में दिया है और chapter chapter 26 improving engineering skills in India तो इसके द्वारा हम इंजीनियरिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हैं और फिर हम सेना मजबूत कर सकते हैं धन्यवाद